और तेरे दाएं हाथ में जो है उसे डाल दे कि इनकी तमाम कारीगरी को वो निकल जाए उन्होंने जो कुछ बनाया है ये सिर्फ जादूगरों के कर्तव्य हैं और जादूगर कहीं से भी आए कामयाब नहीं होता